पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधि क्या है कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन स्वर्गलोक बैकुंठे है या से प्रेरणा ओरे गरीबदास शास्त्र और चार वेद की दौड़े सहस अठासी जिस रटे सहस अठासी हजार ऋषि सहस अठासी जिसरट है गांव है शंकर शेष गरीबदास बैकुंठ से और प्रेरणा देश ये अठासी हजार ऋषि तैतीस करोड़ देवता ये विष्णु भगवान के इन तीन देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश भगवाना के अंदर आते हैं और ये इन्हीं की उपासना करेंगे और कहा जावे यहाँ का ये सारी बात सुनकर कबीर साहब जी ने असली भक्ति तथा का दूध और पानी छाना किस प्रकार सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊ तो ही गरीब दास भगवान को राख्या जगत सम्मोही अब सम्मोहन सम्मोहन एक क्रिया होती है कहते हैं उसने उसको सम्मोहित कर रखा है सम्मोहित के होती है सिद्धि उसको सम्मोहित कर लेते हैं तो उसके सिवा उसने कुछ नहीं सूझता आगे है वो कितना कह लो उसको उस, उसी की तरफ आकर्षण बना रहता तो यहां गुरुदास जी महाराज कहते हैं विष्णु भगवान ने इस जगत को सम्मोहित कर रखा है अपनी माया से सुन स्वामी निज मूल गति निज खास मूल जड़ और वह गति यानी यू रास्ता बता दो कि किस प्रकार यू जीव क्यों भ्रम रेस आप लोग सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊ तो ही गरीब दास भगवान को राख्या जगत सम्मोही तीन लोक के जीव सब वास भरमाए गरीब दास हम कुंज पै है तिसकू धाम दिखाए के तीन लोक के जीव सब ये देवता भी महाराज जीव मलेस से तैतीस करोड़ देवता अठासी हजार ऋषि ये भी जीव रूप में लेते कि तैतीस करोड़ सभी देवता तीनों लोक के जीव विषय वासना में भ्रमित है आप अगर स्वर्गलोक की कथाएं सुन दो ना इनमें लिखी हुई से जो शास्त्रा में आप जो है ना भक्ति छोड़ दो वहां पर इससे भी ज्यादा कुबध है उन देवलोकों में आपने गौतम ऋषि और इंद्र की बात सुनी होगी वो स्वर्गलोक की कहानी से कि इंद्र जो है ना इलाके पास गया वाकोबद करनी चाहिए इंद्र ने श्राप दिया इंद्र को श्राप दिया और वह पत्थर की बन गई ये ऊपर ले लोग आगे खेल हो रहे यहां तक राके हो जाए तो महाराज के तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए विषय वास नाम भ्रमित कर रखे और गरीब दास हमने जपे उसने धाम दिखा जो हमारा नाम जपे हमारे नुमाइंदे संत लेख है और जब वो नाम जपे जब वहां पर उसकी मुक्ति का साधन बने जब हम बतावा जब हो उसका जो देखेगा धाम को सो जानत मोज गरीब दास तो से कहू सुन गायत्री गुहज अब बंदी छोड़ने बोले देवता तो आपने चार वेदों के अनुसार और रामायण महाभारत के अनुसार वैकुंठ तक का ज्ञान है उसको आप सत्य मान रहे हो ठीक आपने झलक भी होगी होगी या शास्त्रों से भी सुन दिया होगा पर इससे ऊपर तो जब देखोगे जब हमने हम बताओगे और जब उसने देख लोगे जब थारा यकीन होगा अब आपको ऐसे रहस्यमय बात बतावांगे क्योंकि बहुत देर से सुनने को मिलती ये कथाएं और पूर्ण रूप से जानकारी जब होश है उसका समय लगा करता एक बात ये नानक जी है जो सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत हुए ये बहुत अच्छे शब्द पुरुष हुए हैं कबीर साहब इनके पास पहुंचे हैं कहने लगे नानक देव जी कहा जी आप क्या की उपासना करते हो क्या साधना करते हो उन्होंने कहा कि निरंकार निरंकार की उपासना करता हूं मैं निरंकार अखान तो निरंकार की क्या पहचान है आपने ध्यान द्वारा देखा हो अखान देखा है अंदर ज्योति दिखाई देती है प्रकाश दिखाई देता है न बोला जी इस निरंकार ने तो सब चीज उड़ जा रखी है इस ज्योति ने सारा काम बिगाड़ रखा क्या मैं बताऊं आपके आपके साठ हजार जन्म हो लिए नानक जी जब से आप अपने लोक सतलोक तक आकर इस ज्योत निरंजन काल के देश में फंस गए न बोला नहीं नहीं नहीं ऐसी गल नहीं होती केड़ा उत्थे तो कोई और है नहीं सतलोक सतलोक कुछ नहीं है न बोला नहीं मेरी बात तो सुनो अक सुनाओ आप सतयुग में अमरीश राजा थे अच्छा आख हाँ महाराज ने अपनी शक्ति से दिखाया जब उन्होंने देखा सारा रोलक साची भाई अर्थात त्रेता युग में जनक थे राजा जनक ये नानक जी थे वो फिर दिखाया अग जी बिल्कुल ठीक और ईब आप नानक हो गए इतने बड़े बड़े आप ऋषि और संत रह चुके हो और अब आप नानक आगे अगले जन्म में आपका इतना भी व्योत नहीं रहेगा ये काल एक युग में बहुत तप करवा दे भजन करवा दे से अगले जन्म में उसमें खर्च करवाना करवाते करवाते करवाते करवाते ना नाम पकड़ा क्यों ज्ञान हो जा थोड़ी बहुत सिद्धियां हो जाती हैं तो बोला नहीं जी खर और गल तो आपकी सारी मान ली पर मैं अंदर दिखाई देता उस वस्तु ने कैसे भूल जा देख अंदर ध्यान लगाया और उससे पहले कबीर साहब ने बता दिया कि मैं नाम दूंगा सतनाम सतनाम जपण का नहीं है एक और नाम है सच्चा नाम सच्चा नाम जपने का के लिए दिया गया इसमें लिखा हो वो सच्चा नाम अलग से है <clears throat> जैसे कहें दवाई ले ले और दवाई दवाई नहीं मिला करती दवाई का आगे फिर उनके नंबर हो सब कौन से पेट की है सिर के दर्द की है कौन सी है फिर वह दवाई आगे पावेगी सतनाम कहण कई भाई का हम सतनाम जप सतनाम कोई जपण की चीज नहीं है वो नाम और सब सत्ता नाम तो ने बोले सतनाम मेरे पास है कबीर साहब बोले मैं तो जब आपकी मुक्ति होना तो हो नहीं सकती और इब्न चक्कर काटे जाओगे आपके मुक्ति नहीं हो सकती बोला नहीं ऐसी गल नहीं मुझे अंदर दिखाई दे देख अंदर ध्यान लगा के नानक साहब ने अंदर देखा कहते हैं वो निरंजन का लोक जो है वो ज्योत में है प्रकाश प्रकाश तो सभी देवताओं के लोक में है और सभी देवताओं का नूर है पर उनमें अंतर से थोड़ा थोड़ा जैसे जीरो का भी बल्लभ है और साठ वाट का भी है और सौ का भी और मरकरी भी और फिर कबीर साहब का नूर दन लकड़ जा इतना है पूर्ण ब्रह्म का तो हम थोड़े से प्रकाश ने देख कर सोचना साधना ठीक होगी अपनी अब कौन से लोक में किस इष्ट की उपासना आप कर रहे हो उससे का नूर दिखेगा अब जो से लोक में टिकट लेकर जाओगे जिस गांव में उस शहर में उससे को पहुंचोगे तो इस प्रकार बोला मैं अभी लगाता हूं ध्यान लगाओ महाराज ने ऊपर देखा दिखाया उससे ऊपर और ले गए ऊपर ले जाकर और सतलोक में ले जाते हैं वहां जाकर कबीर साहेब उस सत पुरुष पूर्ण ब्रह्म के ऊपर चवर करते हैं जैसे ये भाई कर रहा है भगत जी अब नानक साहब के मन में विक्षेप आ गया कि ये जो है ना बैठा ये तो रब है सतलोक का मालिक और ये कोई इसका अनुचर है इतनी सोचे था कि कबीर साहब खड़े बैठ जाते हैं और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं अपने आसन से और कबीर साहब उसी आसन पर जिस पर पूर्ण ब्रह्म बैठे थे वहां आकर बैठ जाते हैं और फिर कबीर साहब के ऊपर पूर्ण ब्रह्म ऐसे चंवर करता है अब उन्हें सोची कि ये क्या हूं तो ये खड़ा था हूं ये बैठ गया तो थोड़ी देर में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा जाता है केवल कबीर साहब रह जाते और चवर अपने आप होने लाग रहा है बिना किसी के करे हुए नो घूम रहा है अब उसके मन में वाह हे गुरु वो तेरे की मत बहुत भूल में था और उसी समय उसकी सुरत वापस भेज देते बंदी छोड़ आगे देखा कबीर साहब नहीं है अब उसको भयभीत हो गया कि वो ही संत मिला है और नाम मिले सत्ता सच्चा सतनाम और जब तेरी मुक्ति हो नहीं तो खो दिया जनक और फिर इस इस बात की भी महसूस करी नानक साहब ने कि इतने महापुरुष को और इतना बैस में खो दिया चाड़ा कर दिया पागल से हो गए तो वहां कहते हैं गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं ना झांखी वेख कबीर की नान्य की वाह और वह शखा के गड़पड़ी इव कौन छुटावता गरीबदास जी कहे कि उन सिखा ने अबू नानक साहब चल पड़े इस धुन में वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु यानी वो गुरु मिला जो हमारे सामने था अरे सच्चा नाम मिले जब मेरी मुक्ति हो है तो कहते हैं नानक साहब वहां से चलकर काशी गए क्योंकि वो बता गए थे एक नाम की जरूरत पड़े थे तो काशी आ जाना काशी में पहुंचते हैं ये हिरट लानते हुए उनके शिष्यों ने जो वहां पहले सागिर बने हुए थे उन लिख लिया के साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकली और सब ने अपना नोट कर लिया कि वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम अब जो असली नाम कबीर साहब से नानक साहब लेकर आए उस नाम की साधना की और जब मुक्ति हुई तो उसने तो सब सिख पंथ भूल गया अब अपना मनमुखी चाल पड़े कि वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम अशी तो बिलास यही जप दया हाँ। अब नोर मिले कई भाई वहां पर क्योंकि पंजाब में आना जाना होता यहां भी नौके साढ़े तद एक नाम दे रखा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ये जप्या करा असी तो महाराज <clears throat> तो हमने कहा कि कबीर नानक साहब ने तो कुछ और नाम जपया है कि नहीं वो तो ना जपना सी असी तो इससे तो काम चल जाएगा जब एक दवाई से ਪਤਾ सब ਪੈਸਰ एक ਇੱਕ करेगी पे बैठ के की तो एक एक गाली खानी पड़ेगी तना तो नहीं साढ़े तो बेलाई में ठीक है तो वह मतलब जहां भी जावा है नो नाम खराब कर रखे असली नाम को बुला रखा अब आप देखोगे राम और कृष्ण का जाप करने वाले आप में बहुत मिलेंगे जो कि राम कृष्ण तो बढ़िया कोई नाम नहीं आप चले जाओ बरसाने में जहां की राधा थी वहां कृष्ण का कोई नाम भी नहीं लेंदा नो के राधे राधे राधे राम कहेंगे ना राम राम तो वहां के लोग कहते हैं बेटा राम राम ना राधे राधे तो दूसरा ऊपर उसका प्रति उत्तर देता है चाचा राधे राधे वो क्या मानते हैं कि राधा सबसे प्रिय थी कृष्ण जा की और हम राधा ने याद करांगे तो कृष्ण मिल जाएगा और राधा बेचारी रो पीट का पाया करती मुश्किल तय और तम राधा के नाम से कृष्ण के कृपा हो भाई तो ये मतलब नाम खराब कर रखे फिर कहेंगे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे अब राधा बेचारी मुश्किल मिला करती सारी रो पीट का जब दर्शन दिया करते तो बंदी छोड़ कहते हैं कि विष्णु जी के पाने का एक नाम है हर एक देव का सतनाम है हर एक का नाम है और उसका नाम इसमें लिखा है सतपुराण वो नाम आपने जपना पड़ेगा और जब मुक्ति उसका अपने इष्ट का विलाप तो पा सकते हो तो उसके बाद सिख धर्म में जो है आपको ये वर्णन पूरा रूप से अलग से देंगे नानक साहब का दोबारा अब तो हमने वैसे बीच में छेड़ दिया इसका पूरा वर्णन दिखाएंगे और मर्दाना जी की साखी नोट है हमारे पास जो उन्हें खुद लिख रखी है कि नानक साहब से मर्दाना जी पूछे हैं कि आपका गुरु कौन था कि साडा गुरु एक जिंदा गुरु पीर सी जिंदा गुरु आखिर में फिर एक साखी में खुद नानक साहब अपनी वाणी में लिखते हैं बालाजी की ने लिख नोट के रखी है उसमें आ गया है कि मेरा गुरु कबीर साहब सी साफ कर रखा उसने तो ये गरीबदास जी महाराज कहते हैं हमने सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया जात जुलाया भेद नहीं पाया कहा सीमा है कबीर है तो अब रामानंद जी का प्रकरण चल रहा है हम पहले उसी को लेते हैं अब कहते हैं कि इसी प्रकार रामानंद जी अपनी भक्ति योग साधना में उलझे थे महाराज जी ने बोले अब तुम ध्यान लगाओ कहां तक अपने योग से जाते हो अब महाराज कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण विष्णु भगवान ने कू जड़ाए हैं जीवे रामानंद जी बताओ है कि कृष्ण और भगवान विष्णु ने इन जीवों को अपने शाब्द यहां पर सम्मोहित कर रखा अपनी आकर्षण दिखा करके अब आगे क्या अब ये थोड़ा सा प्रकरण हम कल सुनाएंगे सृष्टि रचना का जब आप सृष्टि रचना समझ लोगे ना फिर बात समझ में आवेगी हाँ ये बात ठीक से कबीर साहब की कृष्ण विष्णु भगवान ने को जड़ाए हैं जीवे गरीब दास तीन लोक में काल कर्म सिरसी ही वे पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सोहरे गरीब दास रज बीरज की कहाँ रहेगी धूरे पिंड प्राण और ब्रह्मांड ये सब नष्ट होंगे अभी आपने प्रकरण सुना था लिखा प्रमाणिक शास्त्रों में कि ये पृथ्वी भी नष्ट होगी ब्रह्मांड भी नष्ट होंगे ब्रह्मा जी भी नहीं रहेगा विष्णु जी भी नहीं रहेंगे शंकर जी भी खत्म होंगे प्रमाणित सारा दे रखा कि इक्यावनवा वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है सौ वर्ष की उम्र है उनकी उम्र ज्यादा लंबे वर्ष है उनके बहुत लंबे प्रकरण दे देगा कोई करोड़ों अरबों तक का एक मतलब करोड़ों वर्ष का एक दिन बन जाए उसके बावजूद भी नो कहे इक्यावन वर्ष पूरे हो चुके ब्रह्मा जी के अरुणता शोर हो जाएंगे इक्यावनवा चल रहा है तो वो मरेगा समाप्त तो होगा और महाप्रलय जब होगी जब तो कुछ नहीं रहेगा तो उस समय कहाँ रहोगे महाराज जी स्वामी जी रामानंद जी से कबीर साहब प्रसन्न करते पौमी धरणी आकाशे थम्भ चल से चंद्र सोहोरे गरीबदास रजबीरज की कहा रहेगी धूर ये रजबीरज से त्यार ये श्री यू कहाँ रहेगा स्वामी जी तारायण तरलोक सब तारायण तीनों लोक सब चलसी चंद्र सु कुबेर इंद्र कुबेर ये सब खत्म होंगे चलसी माने नष्ट होंगे तारायण कर लोके सब चलसी इंद्र कुबेर गरीब दास सब जाते हैं यो स्वर्ग पाताल सुमेर सुमेरु पर्वत को कहते हैं चार मुक्ति बैकुंठे बैठे फना हुई कई बार गरीबदास अलल रूप अलल रूप मदे के जा अलफ रूप मद के जाने संसार ये चार मुक्ति के पाने वाले संत करा कितनी बोलटे आ लिए धरु को चौथी मुक्ति प्राप्त है गोपीचंद भरतरी को चौथी मुक्ति प्राप्त है प्रहलाद को चौथी मुक्ति प्राप्त है और दोबारा ये भी आवेंगे और जो है राजा हरिश्चंद्र को भी चौथी मुक्ति प्राप्त है मार्कंडे ऋषि को प्राप्त है ये फेर चक्कर काटेंगे गरीबदास जी ने लिखा है कि दसवा अवतार अभी आवेगा और शास्त्र भी प्रमाण दे और इन्होंने नाम तक बता रखा कि वहां पैदा होगा और हरिश्चंद्र राजा जो है दसवें अवतार रूप में आवेगा और विष्णुदत्त शर्मा के घर में सिंबल नगरी में पैदा होगा यहां तक का प्रमाण गरीबदास जी आज से कई लाख वर्ष आगे का जो का तुम लिख रहा कर उसी का प्रमाण शास्त्र भी देते तो यहां ग्रेब कौ स्वामी की तरह हो गए ये चौदह भवन बिहंडे गरीबदास भी जग के हाथरा चले प्राण और पिंडे के स्वामी जी ये सब खत्म होंगे चौदह भवन तक नष्ट हो जाएंगे जब कहां रहोगे सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगे ओंकार गरीबदास बीजक अंत लोक सिंगार ये ओम शक्ति जो है ओम शब्द ये ओंकार है निरंजन का जाप है ब्रह्म का जाप है ये ब्रह्म खुद इस सारी सृष्टि को नष्ट करेगा जब इस पृथ्वी पर गरीबदास ने लिखा कि आगे ऐसा समय आओगा कि कोई फल फूल का दार पौधा नहीं उगेगा और ना कोई कणक होगी क्योंकि साढ़े ती, तीन हाथ नीचे तक का पृथ्वी खराब हो जाएगी इस पर बीज नहीं उगेंगे अब ये हालत इस पृथ्वी की होगी तो उस समय इसको दोबारा निरंजन जोश है पूर्ण रूप से सारे ब्रह्मांड को खत्म करेगा पांच तत्व के तहत और फिर अपने अंदर संभालेगा फिर ओंकार निरंजन ब्रह्म को पार ब्रह्म समावेगा और बीज रूप में सब जीव निर्णय दर दिए जाएंगे ये प्रमाणित बात कर रखी सतपुरा ने और शास्त्र भी बताते हैं अब वो कहने लगे कबीर साहब से रामानंद जी के इसी कौन सा स्थान है जहां कभी नहीं मरते कोई नष्ट नहीं होता तो उसको सतलोक बताया एक सतलोक है उस सतलोक में कभी परिवर्तन नहीं आता ना वहां कोई प्रलय होती ना वहां प्रलय होती जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान अब सतलोक के यहां सतपुरुष के यहां कोट इंद्र ब्रह्मा जहां कोट कृष्ण कैलाश कोट कह करोड़ों करोड़ों तो इंद्र और ब्रह्मा जहां करोड़ों कृष्ण और कैलाश गरीब दास शिव करोड़ हैं करो कौन की आश सतपुरुष के यहां करोड़ों शिव हैं शंकर भगवान के से साधक उपासक संत वहां बहुत है गरीब शिव शक्ति जा से हुई शिव शक्ति शंकर भगवान भी जिससे उत्पन्न हुआ शिव शक्ति जा से हुई अंत कोट अवतारे गरीबदास उस शक्ति को लख सो हो करता रे उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति को लख मीन पावे पावे नाम विधि से वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा करतार स्वरूप हो जाता है जैसे आईएस करने के बाद डीसी का अधिकारी हो जाता है संख स्वर्ग पर हम हैं सुन स्वामी ये सैन गरीब दास हम अलफ हैं यो सब फोकट ये सब गुल फोकट फैन के संख नील पदम संख स्वर्ग पर हम बसे सतलोक में और सुन स्वामी ये सैन माने इशारा और गरीब दास हम अलफ है ये सब ये गुल फोकट फैन ये गुल ये फोकट है ये बेकार से जो आप तीन लोग तेई की उपासना कर रहे अब इसको महसूस नहीं करना कोई किसी इष्ट का उपासक हो तो गलत महाराज ने किसी चीज को बिसराया नहीं वही शास्त्र बताओ पर हम जोर नहीं नंदे इष्टवादिता के कारण हम हम भी उपासक हैं हम ब्रह्मा जी का भी जाप करते हैं विष्णु जी का भी जाप करते हैं शंकर जिया का भी जाप करें माता का भी जाप करते हैं ऐसी बात नहीं है अब हमने जिस तरह काम पड़े जैसे हम प्रधानमंत्री के व्यक्ति हों और रहते हों जलारोह तक में तो हमने एसडीएम से भी मेल रखना पड़े डीसी से भी रखना पड़े भाई सारे काम जो हमने आवश्यक हो जल्दी हो जाएंगे इतना सुख हो जाएगा कभी कोई तकलीफ नहीं होगी ये थोड़ा है कि हम प्रधानमंत्री के आदमी हो गए सारा नमोल ले लें और किसी ने कुछ समझे गलत बात है वर्ता वही होती है जो अपने जेठ देवर जेठानी दौरानिया से पूर्ण रूप से प्यार करे उनका यथाउचित आदर दे पर भाव रखा अपने पति में ये पति वर्ता के लक्षण बता रामानंद जी कहते हैं जे तू कहा सो मैं लहा बिन देखे नहीं दी ही जे गरीब गरीबदास स्वामी कह कहा अलफ वो बी ही जे वह चीज सह की फिर मैंने नो दिखा दे अब कहते हैं महाराज अब तुम अंदर चालो अपने पहुंचो जहां तक जाना चाहते हो आप योग विधि से तो कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर ध्यान लगा और फिर ने बोला इसमें तो करोड़ों रामानंद होकर जा लिए तेरे कैसे योगिया का कोई ओड नहीं फिर नरक में जावस पिंड प्राण पिंड प्राण इस शरीर में अपने जीव को प्राण को अंदर ले जाओ पिंड प्राणपुर यानी इस धाम में इस महल में जाओ पिंड प्राणपुर में दसो हो गए रामानंद कोटे गरीब दासर स्वर्ग में रहो शब्द की ओहटे सर स्वर्ग में आखिरी स्वर्ग सतलोक के अंदर चित चित्तकृत भया देख फल फजल दरबारे गरीब दास सजदा किया हम पाए दीदारे ऊपर जाकर देखा सतलोक में कहते ये परमात्मा है खुद तो कहते हैं तहा तहावा चित चक्रित भया चकरा गया दिमाग और देख फजल दरबार सतलोक के दरबार ने देख कर और गरीब दास सजदा किया बार बार नमस्कार सजदा किया हम पाए दीदार अखमन दर्शन हुए परमात्मा की अब सतलो की झलक देख कर श्री रामान जी का मन चकरा गया क्योंकि स्वर्ग से तो वो शंख गुणा ज्यादा आकर्षक है बहुत अधीन होकर कहने लागे हे स्वामी आप खुद ब्रह्म हो मैं तो आपका के सामने कुछ भी नहीं अब छोटे से बच्चे ने 104 साल का महात्मा योगी चारों वेदों का ज्ञाता छह पुराण ना छह शास्त्र अठारह पुराणों के जानने वाले ने कह अपूर्ण परमात्मा हो ये तो 600 साल पहले का इतिहास है कहते कोई सोचा गड़ोंग मार रखे लाख बरस हो गए 600 साल पहले का इतिहास है इतना को पुराना नहीं है कदे कोई ना सोचा वो सट्टे मार रखे और गरीबदास जी जो लिख रखा है ये ढाई सौ साल हुए और हाथ से लिखा हुआ हमारे पास है ये सारा ग्रंथ ये तो बाद में प्रिंट करवाया गया तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश अब रामानंद जी उस बच्चे ने कहते हो तो मेरे आप तो मेरे स्वामी और मैं आपका बच्चा तुम स्वामी में बाल बुद्धि ही भ्रम कर्म किया नाश गरीब दास निज ब्रह्म तुम हमारे दृढ़ विश्वास निज ब्रह्म आप असली ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म हो अब मुझे विश्वास हुआ आख्या दर्शन करके यानी अपनी आपकी दया से सुन स्वामी मेरा दृढ़ विश्वास सुन सुन स्वामी कैसे लखो ये कह हूं तो ही गरीब दास बिन पर ओढ़ है तन मन शीश न हो उसको पाओ कैसे कि योग निधि से नहीं पा सकते अब हम आपको कल मिलेगा मेरे ख्याल में बोर्ड बनवा रखा है जिसके अंदर सारे कमल लिख बनवा रखे बहुत बोर्ड बनवाया और उसमें आपको खोल कर समझाओगे कि चार वेद के योगियों का अनुसार योगी पुरुष सैंसरार कमल तक जाते हैं सैंसरार कमल तो ऊपर किसी वेद में ज्ञान नहीं शास्त्र में और कबीर साहब गरीब दास जी उस चार सैंसरार कमल तक का वर्णन शहीदों का जो देवस है और उस तो ऊपर और भी बतावे अब वह बात आवेगी कि जिसने यहां से दिल्ली ताए के रोहतक से दिल्ली तक जा चुका है सारे स्टेशन नोट कर रखे हैं ये से भाई और हम भी जा रहे थे तो हमने वो मानने पड़ेंगे हाँ दिल्ली ताए के ये स्टेशन है और कोई आगे बम्बई तई गया और बताता हो भाई ये आगे, आग जाओगे ना ये स्टेशन और आवस तो वो गलत नहीं से पर हम नहीं देखे हम नहीं जा रहे हमने यहीं तक का ज्ञान है तो वो अलग बात से पर वहां तक भी जो कि तो पाओगे जब ये सारे सही मिले अरे तो अनपढ़ थे चलो आप बता दो ना कितने विद्वान सो आप बता दो कितने कमला के बारे में जानते हो अगर को ज्ञान से ही जान सकता है और ज्ञान को सत मानता है ज्ञान से ज्ञान कहां से हुआ इन शास्त्रों से हो सकता है और वो तो अनपढ़ थे पांच साल के बचान लाग रहे कोई गीता पढ़ी ना महाभारत पढ़ा ना भाई वेद पढ़े नहीं और दस साल के गरीबदास जी बताने लगे थे तो हमने इन पर विश्वास करना होगा हम असली वस्तु न छोड़ हमने वो भी करना है जैसे दसवीं भी करनी है बीए भी करनी है एमए भी करनी है फिर हमने वस्तु प्राप्त करनी है तो ये महाराज कहें कि यहां तक के आपको ज्ञान यहां तक का जो ज्ञान थी ये ये कैटेगरी आप आ जाओगे इतनी आपको उपलब्धि होगी इसके तो ऊपर और चलना होगा ऐसा सतगुरु महाराज हमें बताओ अब कहते हैं रवनपुरी एक चक्कर है तहा धनंजय बाय बाय कहे वायु को धनंजय ये अंदर की सारे महाराज दाना दाना गिनते हैं योग योगियों का जब सारा प्रकरण रामानंद जी ने अपने महाराज के मुख से सुन लिया कि ये ओड बालक और भीतर की सारी वस्तुएं बताने लग रहा कौन सी वायु कहाँ से चलेगी और कहाँ तक वह पहुंचेगी उससे आगे कौन सी शुरू होगी ना भी कमल से आगे कुंडलनी शक्ति है कुंडली के अंदर एक नभ एक वो बना रखी है नागफणी जो इस कुंडली शक्ति उसको रोकी हुई है जैसे पाइप होती है पाइप के ऊपर रबड़ चढ़ा दे पाइप के ऊपर रस्सी बांध दे तो अभी इससे बंद हो जाती है पाइप के अंदर वस्तु जानी बंद पानी जाना बंद हो जा नलकी होती है उसमें इस प्रकार नाभि से आगे एक नाड़ी जाती है नाड़ी उस नाड़ी को महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि एक नागनी है नाग जैसा मुंह है उसका नाड़ी का नाड़ी है वो भी पर नागनी कहलाती है वह और उसके दो जीव से नाग को भाग रहे और उसने इस नाभी के से आगे जो कमल तक जाती है या नाड़ी इसको अपनी लपेटे थे तीन लपेटे ला रखे हैं उस नाड़ी ने इसके चारों तरफ और उस जो नाभी से आगे चलना होता है योगी ने वह बंद कर रखी है और योगियों ने वह खोलनी पड़े है उस नाड़ी को उस नागनी को मारना पड़ता है कैसे मारे कि सांस वह सांस के द्वारा खड़ी है प्राणायाम करना पड़ता है बहुत लंबे प्राणायाम का अभ्यास कोई वर्षों तक करना पड़े फिर वह क्या करती है कि वो नाड़ी जा जाती है आगे से नीचे न हो जाएगी जब न्यो थी अब न्यू हो जाएगी न्यू क्यों थी कि ऊपर से अमृत आता है यहां से ये तालू है तालू के बिल्कुल सामने ऊपर एक छोटा सा जैसे <clears throat> अंडा छोटा हो ना चिड़िया का और ये फूट रहा हो ऐसे आकार का यहां पर एक स्थान है इसमें से अपने आप रिस्क है उसके अंदर अमृत जमा हो जाता है इस शरीर में और उसको एक नाड़ी के माध्यम से जब हम तालू को ऐसे मिलाते हैं अभ्यास बताते हैं कई योगी <clears throat> इसको ऐसे मोड़कर तालू को लगाते हैं जीव को <clears throat> तो उस नाड़ी के ऊपर से एक बहुत बारीक पत्ती है जो उसको बाल्ब के रूप में बंद करें बैठी है और जीव ऐसे करते ही वो अंदर से नाड़ी खिसक जाती थोड़ी सी जितनी देर हम जीव लाएंगे इतने वह मड़ी सी हटी रहेगी और उसमें से वो नाड़ी का आकर के हमें अंदर अमृत जाना शुरू हो जाता है उससे क्या होता भूख लागनी बंद हो जाए और शरीर में ताजगी आ जाए पर मुक्ति नहीं है गरीबदास जी यहां उस योगी को फेल करते हैं चलो अमृत भी चाख लिया शरीर स्वस्थ रहेगा बहुत दिन तक भी राख लेगा फिर बेटा नाम बिना काम नहीं चल रहा है ये तो एक साधना बना ली रोटी खाकर डांट लिया थोड़ी खा ले ज्यादा क्यों खावे आवश्यकता अनुसार अं, प्रथम अंजन संयम राख है योग युगत सब सतगुरु है ये तो आपने साधना की भक्ति के लिए भक्ति फिर अलग रहेगी तो यहां बात यहां खत्म हो जाती है कि हम असली वस्तु को पकड़ने तैयार नहीं हमने तो आंख नीचे बैठ जाओ दिख जाओ अरनों को बस जब बैठा तड़के तो बैठा रहा अब साधु के चाड़ा से गरीबदास जी महाराज के हजार वर्ष बैठ कर चले गए वो गधे की चुन्नी बताए अब तब से क्या होता है सिद्धि आ जाए छोटी मोटी क्या होगी कि भाई पानी में पानी टेकदा पाया का रेत नहीं लगता आकाश में उड़ जा सर पानी पर नो चला जा जो कर धरती में चाल्या करे गरीबदास जी महाराज के तो बड़का के खेल से ये कोई वस्तु प्राप्त नहीं करी दो भगत थे <clears throat> वो कोई गुरुमुख हो गए किसी नाथ से संत से कुछ न उपदेश हो गया तो उसने साधना बता दी कि तुम ऐसे करा करो तुमने सिद्धि प्राप्त हो जाएगी के हो जाएगी कि पानी के ऊपर कनो चले जा करोगे जो कर धरती पर चालो सो और पांच पाया का थरगार पानी कुछ नहीं लागेगा अब उन दोनों ने साधना शुरू कर दी एक भगत को वो गुरु उनका शरीर छोड़ गया था एक उनमें से शिष्य था जो संत था उसको एक कबीरपंथी साधु मिल जाता है उन्होंने बोला भगत जी के साधना करे अक मैं सिद्धि करूंगा क्या की कि पानी पर गचांडा करूंगा न बोला अच्छा बौला रहे ये अभी कोई बात फिर क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा तो अकना गुरु जी अन्य में बता रखी फिर उनको ज्ञान दिया समझाया महाराज के तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकर सवान तब से राजा बन जाओगे अगले जन्म में इस जन्म में थोड़ी सिद्धि हो जाएगी अगले जन्म में राजा तीसरे में कुत्ता यह उपलब्धि होगी तने तो और गदा बनेगा फिर अब वो समझदार था बोले जी और के साधना फिर उन्हें बताई गरीबदास जी ने लिखा कि चौबीस सिद्धि है तीन लोग के शास्त्र केवल नौ आठ सिद्धि नौ निधि बतावे और या चौबीस सिद्धि बताते हैं कि हमारे नाम के जापते ये चौबीस सिद्धि आ जाएंगी क्या एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई एक सिद्धि जल पैर मिलाई एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे एक सिद्धि जो बहुत दुख दीवे एक सिद्धि बहुत चोले तो झारे यहां भी दीख जा वहां भी दीख जा वहां भी दीख जा एक सिद्धि नी तत्व विचार तो इस प्रकार चौबीस सिद्धि बताइए कहते इन न भी चौबीसा को नाम मनचावे सो हंसा सतलोक से धावे जब आगे का को राह बनेगा बीरा इन छोड़ देगा उसका समझ में आगी उसने नाम साधना गुरु गुरु बना लिया अब बारह वर्ष के बाद वो उसका दूसरा पहले गुरु का साथी वो संत फेर फेटे से वो बोला भाई के मैं उपलब्धि हुई तने तो अब जो कबीर पंथी हो चुका था उन्होंने बोला वह मन्नता उपलब्धि होगी क्या हुई कि वह मैं नो बताने की नहीं सह बाकी मैं आपको ज्ञान बताऊंगा कि तू समझ पहले मेरी बात ने पर सिद्ध हो रहा हो क्या न सुने था न बोला तने के बेरा मेरी सिद्धि तन बेरा के उपलब्ध अगर नदी थी एक नहर उस नहर के पानी के ऊपर का पट पट पटनू चला गया दोनों धरती पर चालने से और उल्टा फेर आ गया बोला देखा तने के पाया तय कुछ नहीं बोले डरे डोए तो वो जो कबीरपंथी साधु था रोन लाग गया ने बोला रे तने बारह साल में यू है शिक्षा ये तो दो अन्ना मत किस्ती पर ले जाएगी दो अन्ना में उल्टी ले आवे बारह साल में चार अन्ना का काम सीखा तने और मुक्त हो जाएगा गधा बनेगा फिर वो पताई देखने वो अपनी चुपताई उन्होंने बोला भाई मन तो जुलम कर दिया मत ईशन सब कुछ मान रहा था तो ये हमने निवेरा के हम साधुओं ने किस ढंग से देखते हैं इस साधना को देख कर हम लट्टू हो जाए साधु के चाड़ा से और तीसरे जन्म वो गधे की जुनिम जाता है ये कबीर साहब और सभी शास्त्र प्रमाण देते गरीबदास जी बता कि तप तपेश्वरी ये भी बताते शास्त्र तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी ये श्रुतियों का शास्त्रों का ज्ञान तो इन साधनों से तप करने से हम अगले जन्म में राजा की पदवी पाओगे इस जन्म में काम सलाह सिद्धि हो जाएगी लोग रिझावण जोगी पर अपनी मुक्ति ना शिष्यों की ये बंदी छोड़ दो तो उस लड़के ने नाम ले लिया तो इस प्रकार तो कबीर साहब को रामानंद जी आने जब तो ज्ञान हुआ अकबई साधना त्या तेरी गलत बन गई तो जब उन्होंने अपना नाम उपासना महाराज कबीर साहब के अनुसार करनी शुरू की तो उन्होंने बोला महाराज जी एक नाम जपो इस हाँ फिर वो चल रहा था ना प्रकरण अब ये एक नागनी है जो इस नाभि के एक जो अंदर से जाती है नाड़ी उसको बंद कर रही है इसको योगी कैसे खोलते हैं सांस प्राणायाम करते हैं सांस बंद कर लेते हैं ऐसा सांस रख रोक लेते हैं कि आना भी बंद हो जाता है कपाल में चढ़ा तो वह सांस से खड़ी है लू और जो अमृत ऊपर से आता है उस अमृत को वह पकड़ लेती सारे नुआ पी जाए तो उसके जो सांस रोकने से उसका मुंह नीचे न हो जाए तो वो अमृत शरीर में रमना शुरू हो जाता है और ना भी वो नाड़ी से वह रास्ता खुल जाता है तो योगी पुरुष अपने वायु को दस में सुषमणा में गाल लेकर और यहां से चलते हैं और नाभि में आकर के फिर कमला में होते हुए और फिर त्रिकुटी माते हैं संत कहते हैं कि हम इन कमला के एक अलग से जाप देते हैं उन मंत्रों के जाप से कमल सौ तक खुल जाते हैं साधना की जरूरत नहीं पड़ती और फिर हमने त्रिकुटी में सीधा ध्यान यहां से ही लगाने की हम आपको बताएंगे ये निचले सारा हिसाब छोड़ देना होगा वहां से हम चलेंगे और आपको ऊपर की वस्तु बताएंगे और फिर जहां तक सहसरार कमल से भी पार करना होगा हमने और ऊपर जाके हम सतलोक पहुंचेंगे तो इस विधि का ज्ञान जब हमने हो जाएगा कि कबीर साहब का जानकारी जब होगी जब इन्हें पता चलेगा इन्हें के के चमत्कार दिखाए कल हम साथ में कबीर साहब के चमत्कार भी आपको बताएंगे उनमें क्या शक्ति थी और किस किस प्रकार उन्होंने जैसे कई तरह मुर्दों को जिंदा किया हाथी का आगे गेर दिए जब नहीं मरे तो भाई उसमें गंगा जल में गेर दिए थे और तोब चला दी थी सिकंदर लोधी राक्षस राजा था हिंदुस्तान का और उसने भी आखिर में नाक रगड़ी थी कबीर साहब के सामने और हाथ जोड़कर अक्ष याचना करी थी और वही एक राजा था जो कि कृष्ण जी का काबू नहीं आए और क्या नाम है कौरव और पांडव युद्ध होकर रहा और वही अस्तनापुर का राजा सिकंदर लोधी था कबीर साहब का आगे नाक रगड़ी और एक बहनी बीस बार रगड़ी है तो आज के उदाहरण है और उसने कह दिया था कि आज के बाद हिंदू से मुसलमान नहीं बना होगा अगर सिकंदर लो दिए कि जिस विधि से वो मुसलमान बना रहा था वो स्पीड चल जाती थी हिंदू नाम का मेरे ख्याल में यहाँ कोई राष्ट्र नहीं रहता उस समय में कबीर साहब ना कह हमारी रक्षा करी यानी उन्हें नो नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान कोई दोष है पर भाई दो दिशा है अपना उसी ढंग से रहो पर भक्ति भगवान सतपुरुष की कहो बोल सतगुरुदेव की जय तो इस प्रकार रामानंद जी ने कबीर साहब की बात को मान लिया और ये सारी योग विधि बता रखी इसमें बहुत लंबा वर्णन से पर इसका आवश्यक नहीं समझता मैं आपको पढ़ पढ़ कर सुनाना विधि आपको बता दी ये सारा लिख रहा क्या है कि कुंभक करे रेचक कुंभक करे रेचक भरे फिर टूटत है कौन गरीब दास गगन मंडल में नहीं होता है यानी सारे वर्ण दे रखा है इन्होंने को सोचा ज्ञान नहीं था तो वो हम फिर उसके साथ बताओगे जो बोर्ड बनवा रखा है उसमें आपको पूर्ण बताएंगे सर तो इस प्रकार ईश्वर की भक्ति हमने पहले तो ज्ञान नहीं कि कहां से शुरू करें किसकी करें उससे के लाभ होगा और करते भी हैं तो वैसे ही अपने मनमुखी गुरु बिना काम नहीं चलता तो इसलिए कहा आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछता भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ अब फिर संशय होगी भाइयों को जो नौकन गई भी नौकन लागे राम की शरण में आजा राम मतलब गॉड राम ईश्वर अल्लाह ये कोई अलग नहीं है हम राम जैसे साहब राम कहते हैं भाई डीसी साहब प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब ये राम हम पर कबीर साहब को कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म को राम कह रहे हैं यहां पर कि उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जा निचली शक्तियां आपका साथ हो जाएंगे आ जा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछता भाई आजा बंदे शरण राम के फिर पाछ बाणु की बीत पवन का कब लग मोर मनाव हाँ, बाणु की बीत पवन का खंबा कद लग खैर जम तेरे लेंगे गेरे तू राम चरण ना पावे आई आजम तेरे घट लेंगे तू राम चरण ना गा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछता आ जा बांधे शरण राम की फिर काल बलि तेरे सर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावे हाँ, मात पिता तेरा कोट में कबीला सारा खड़ा लखा मात पिता तेरा कोट में कबीला सारा खड़ा लखा आ जा वंदे शरण राम की फिर पाछ धर्म धर्मराज तेरा लेखा लेगा वहाँ के बात बनावेगा धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ के बात बनावेगा हलाल खम्ब से बांधा दाबन सतगुरु कौन छोटा लाल खम्ब के बांधा दाबन सत्य गुरु कौन छुटावेगा भाई जा बंदे शरण राम की फिर पाछ दिया लिया तेरे संग चलेगा धरा ढका संग चलेगा धरा कह कबीर सुनो भाई साधु करणी के फल पा कह कबीर सुनो भाई साधु करणी के फल पा भाई आजा बंदे सर राम की फिर पाछ पछतावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया कि आजा बंदे शरण राम की भाई फिर पाछ पछतावेगा अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में हम आ जाएंगे अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं धन है इनकी पिछले जन्म की कमाई के जो इस उम्र में और परमात्मा के दरबार में बैठे आप सत्कर मानो ये परमात्मा की कृपा बंदी छोड़ गरीबदास की और करीब कबीर साहब की है हमारे साथ ही स्कूल के बच्चे इनकी छुट्टियां होगी इनके धन्य है माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे लाइन पर ला दिया ये बच्चे हमारे साथ पाठ करते हुए हम पाठ करते हैं गरीबदासियों की वाणी का क्योंकि इस वाणी से अकेली इस पाठ से चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिष्ठ महाभारत गीता रामायण और भागवत इन सब का लाभ कंबाइंड मिल जा सके इनमें सारा वर्णन दे रखे सार ले रखे और फिर साथ में हवन का काम ये मंत्र है और ये हवन हो रहा है वो अखंड जोत जला है और वहां धूप वो जगन लाग रही उधर से धूप अखंड धूप जलती रहेगी और मंत्र हम ये पढ़ते रहेंगे जैसे वो बच्चा भी पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं ये मंत्र है अखंड वाणी को हम अखंड पढ़ते रहते हैं बीच में बोलते नहीं लगातार दिन रात बोलते रहते अड़तालीस घंटे अखंड हवन होता है अब हमारे जन में हमारे मन में एक फतूर नहीं सैकड़ों भर रखे हमने सोचा सा मंत्र तो अवन तो योग वेद मंत्र तो आकर है और तो सब फंड से या गलत से वेद मंत्र संस्कृत में है और परमात्मा की स्तुति है उनमें अब भाषा से संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो उस बोलनीय की शक्ति में शब्द की शक्ति होनी चाहिए उतना काम करेगी जैसे अनपढ़ प्रधानमंत्री बन जावे थोड़ा पढ़ा लिखा अंग्रेजी ना जानता हो और वो प्रधानमंत्री एक बहनों कह दे भाई रहे कौन सा डीसी से केस है तू नौकरिए जा फलाना काम कर दे इनका ओ काम हो गया इतना कंधे हो गया ना सोच लो उसने ना तो अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ी और ना भाषा की शुद्धि लेने की आवश्यकता पड़ी उसके कंधे और हफ्ते तो पहला हो जाना चाहिए हफ्ता के चौथे दिन हो पाओगा आपने तो ये शक्ति शब्द की में डिपेंड करा है कि किसकी कितनी शक्ति है ये तीन लोग ब्रह्म तक की शक्ति इस वेद में है और जितनी ब्रह्म की शक्ति है और इस वेद के मंत्रों से उतना काम जरूर करेगी और ये राष्ट्रपति प्रधान यानी पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसमें है और इस भाषा से जो मंत्र होते हैं इनसे शंख गुणा फालतू काम कर रहे हैं आज इसका प्रमाण आपके सामने है मैं एक महीने में हमने अट्ठाईस पाठ किए हैं तीन दिन में पूरा होता है ये पाठ अड़तालीस घंटे में और हमारे पाठी अलग अलग हमने सेट करा के तीन तीन पार्टियां रोजाना एक पाठ प्रकाश होता है एक को भोग लग जाता है अड़तालीस घंटे हवन होता है और पांच यज्ञ इसमें इकट्ठी चलती है अड़तालीस घंटे तक एक यज्ञ है धर्म की एक दूसरी यज्ञ है ध्यान तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम और पांचवी ज्ञान यज्ञ हम सत्संग करते हैं जाकर अड़तालीस घंटे तक जो भी उस घर के अंदर उस परिवार में जो व्यक्ति जाता है बाहर का चाहे रिश्तेदार आओ चाहे कोई आओ तीन दिन हम दूसरी बात नहीं बतलाने दे उसने चर्चा करे था तो परमात्मा की ना फिर बतला लिया अपने कोई वाणे ठेरे की बतलानी है तो 48 घंटे तक गरीबदास महाराज की वाणी से उस सारा परिवार वो घर शुद्ध हो जाता है और मंत्र अखंड चलते रहते हैं और हमने क्यों बिगाड़ रखा अपना ढांचा कि राम नाम तो कभी सपना में भी नहीं परिवार में और सुख सारे चावे ना कोई धर्म होता तो हम पांचों यज्ञ 48 घंटे तक करके उस परिवार के पूरे शुद्धि कर देते हो जाती है और चार वे छह शास्त्र सबका साथ में ये और सतलोक की जो वाणी से वह भी वहां इसके सैनिकपुर इसका परिणाम ये हुआ कि आज एक एक महीने में 25 और 28 पार्ट हमारे पास एडवांस बुकिंग है जुलाई तक एडवांस बुकिंग हो रही है मतलब यह तो न्यू है कि रोज तीन तीन मतलब महीने में अट्ठाईस अठाईस तीस तीस पार्ट पच्चीस पच्चीस और बाकी तो पूरे दिसंबर तक हमारे किसी में पांच पाठ किसी में आठ किसी में सात और जब तक वहां पहुंचेंगे इतने ये कवर होकर के और इतने आगे जा लेती है डेढ़ साल से ऐसी प्रक्रिया चल रही है तो इसका ये परिमाण परिणाम हुआ कि लोगों में जागृति हुई और ज्ञान हुआ भगतजनों ने आज उनके घर में जो सुख सुविधा और बच्चा बादशाह असर अब ये छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के प्यारे हंस है अब हम जो कहना चाहूं था कि ये फागण था लोग तो बांदर के सामूह करें कीचड़ मारे थे गार मारे थे बूंदी शूंडी करे थे दारू तो बंद होगी चलो और उथपड़े बतेरे कर रहे थे उनके बच्चे भी वो माँ बाप भी साथ में और हमारे बच्चे वहां पाठ कर रहे थे और ये बच्चे बाहर निकले भी नहीं हम खानपुर पाठ किया <clears throat> चौबीस का फाग था चौबीस को खानपुर कला के अंदर गुरुकुल खानपुर में पाठ शुरू हुआ और ये हमारे ऑर्डर बच्चे छोटे छोटे वो आए हुए ये वहां पाठ कर रहे थे बाहर झाके भी नहीं तो कर्म तो इन बच्चों के बनेंगे जो परमात्मा की कथा में और पाठ कर रहे तो जिसा भी हम बच्चों को ला, लाइन पर लगाओगे वैसा ही लगेगा दूसरा पाठ हमने भोग लगाया जींद के अंदर 24 तारीख को दुनिया वहां पागल हो रही धीरे करती अंडर हमारे बच्चे वहां भोग लगा कर आराम से कुटिया में अपना भजन किया किसी ने माला फेरी किसी ने नाम पढ़ा किसी ने मंत्र किया बाकी कपड़े धोए आराम किया तो ये हमने कर्म बदलने पड़ेंगे जब हम शुरू करेंगे तो बच्चे शुरू करेंगे इब हम तय तो पीवा दारू और वही शल्फा और बेड़ी होका और उठते उल्टी सिखाओ फलाने के छोरे ने कोठी बना ली भाई वो तो भाई कसूती लूट कर रहा है नोर नो रहा कर इब हम बच्चा ने ये सिखाओगे तो वही ये उत्पन्न सीखेंगे हमने बच्चा को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि परमात्मा एक अजब शक्ति है अगर हम इस पर विश्वास करेंगे उसके आश्रित होकर चलेंगे तो हम भूखे नहीं मर सकते और हमारी सो सो सुविधा होंगी और अंत समय आसानी से व्यतीत होगा आने वाला समय बनेगा आपका जो दूसरे जन्म होगा बहुत अच्छा होगा अब जैसे किसी ने साठ साल की सत्तर साल की उम्र में नाम लिया अगले जन्म में चालीस पैंतालीस साल में मिल जाएगा अगर अच्छी भक्ति करके गया था और उससे अगले जन्म में उसको पंद्रह बीस साल की उम्र में और तीसरे चौथे जन्म में तो अब आप सचकर मानो ये जितने बच्चे छोटे छोटे ये बैठे ये हमारे ये और, और भी ये बड़े जैसे तीस साल के को पच्चीस साल के ये भी नाम ले रखा और वो भी सत्तर साल के और ये उनके जो है ना ये अभिमान अहंकार है ना निमट दिया क्यों भगवान किसने देखा तो ये दुर्बुद्धि पिछले संस्कारों से होती है और सदबुद्धि भी पिछले अच्छे संस्कारों से होती है तो संस्कार बनते सत्संग माने से और सत्संग अंत हो रहा यहाँ रागनी कंपिटिशन होता आड़क नोड़ो स्टेडियम में कराना पड़ता हो इतना देश आ जाता लाखों कट्ठे हो जाते हजारों तीस तीस चालीस चालीस हजार और बूंदी तो बूंदी बात कम हो और किल की मारे हो है उसको पसंद करते हैं राम नाम की कथा में आप देख लो सारे रोहतक ये तो बाहर के आ रहे रोहतक के दर दस से बीस होंगे पचासों गणित बाकी सारे बाहर से संगत आई है जो अपने आत्म कल्याणार्थ आती तो जिस पर इसकी रजा होती है वही अपने काम ने भी छोड़ सके और इस इस स्थान पर आ सके ना कर्महीन जीव नहीं बढ़ सकता इसमें दोहरे के लेकर जाए नौका गए तो फंड कर रहे सो भाई और और आपने में छाणा बढ़ के जागा और थोड़े देर में रौड़ो मर और फिर आगे की ये बताओ फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजय बैल बना और चार पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर है फिर हाड़ी का लटतला आवेगा सांटा तेरे ऊपर बाज जाएगा और तेना पूड़े चाहिए फिर ये दुख अगला ये बताओ फिर तेरे गल अग्नि बनेगी और कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे फिर एक दूम तो मच्छर उड़ा युक्त तो टिकिया भी मच्छरदानी भी छत्तीस प्रबंध कर रेसा और फिर बैल बनकर पशु बनकर फिर वह लठ नारे खाने मच्छर कलील चिचड़ नारे खावे और चोड़े में बैठेगा वीरा ईब तक तो तुम सोफा सेट पैरों पर गद्दा में लोटा लोट ले कहे दिन लोटोगे तो महाराज कहें ये सदा कौन रहे दो दिन के चोचले हैं और वो रहे रहेंगे चलो वो अभी तेरे भाग में है तो नाम भी क्यों ना जप लेता है एक साथ में भाग्य और सुविधा मिलेगी कहते सिर पर सींग दिए मन बोरे दोम तम असर उड़ा अरुआ भी कट जाग्रह कर्म हीन की वह नौकर आग्रह टूडी जी ने वो उन तभी कर, क्यों कर्म अनुसार हर अंग खत्म होता है आ टूटना आंख फूटना या कोई और भी कर्म जो भी हमारे बीमारी किसी कर्म से ही होती है तो इस प्रकार महाराज के सिर पर सींग दिए मनबोरे दोम त मच्छर उड़ा और कंद जुआ जोत कुआ फिर कौन का उसका अब तो छप्पन वो खावे और फिर जोआ का तूड़ा उसमें इतने लंबे फांस तो सोया करे सारा दिन तो रेट खेचा करता और फिर सांझ ने वो गिठड़ी खोल देते तूड़े की वो भी जोआ का और वो खावा न्यो करा अरे आख्या मगा पानी पड़े खाना पड़े क्यों पेट मांग रहा है तो महाराज के ओड मुकदमा भाई तने अपनी गलती से मोल ले लिया यहाँ कहते हैं बंदी छोड़ ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना यो सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर लोहे के साताव जाते हैं लोहे के साताव जाते हैं काया देह सराहिर संतो यो सौदा फिर नो यो सौदा फिर तीन लोक और भवन चतुर्दश तीन लोक और भवन सब जग सौद आही रे संतो यो सौदा फिर नाई ओ सौदा फिर संतो यो सौदा फिर दुगणे तिगणे करे चौगणे दुगणे तिगणे किए चौगणे कि नहूँ मूल गवाहिर संतो यो सौदा फिर ना यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर यो दम टूटे पेंडा फूटे यो दम टूटे लेखा दरगा माही रे संतो यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही उस दरगाह में मार पड़ेगी उस दरगाह में जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई रे संतो यो जादन की मोह डरणी लागे जादन की मोह डरणी लागे लज्जा रे अकना ही रे संतोयो सौदा फिर नाही सौदा फिर नाही रे सौदा फिर नर नारायण देह पाय कर नर नारायण देह फिर चौरासी जाहिर संतो यो सौदा फिर यो सौदा फिर नाई संतो जा सत गुरु की मैं बलिहारी जा सत गुरु की मैं बलिहारी जामण मरण मिटाई संतो यो सोदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई संतो यो सोदा फिर नाई कुल परिवार तेरा सकल कबीला कुल परिवार तेरा सकल मसलत एक ठराई रे संतो ये सौदा फिर नाई ओ सौदा फिर बांध पिंजरी अग लिया बांध पिंजरी मर घटन ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नो सौदा फिर अग्नि लगा दिया जद लंबा अग्नि लगा दिया फूक दिया उस ठाई रे संतो ये सौदा फिर ना यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा वेद बांध फिर पंडित आए वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई सौदा फिर नर सेती तो पशुआ की जय नर ती तो गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर ये छप्पन भोग कहाँ मन बोरे छप्पन भोग कहाँ मन गीत कोरड़ी चरण जाई संतो ये सौदा फिरना यो सौदा फिरना संतो यो सौदा प्रेत सला पे जाय बिराजे प्रेत सला पे कतरों पेंड भराई संतो ये सौदा फिरना यो सौदा फिर नाई संतो यो बोर सराद खान को आवे बोर सराद खान को आवे काग भये कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई संतो यो सौदा फिर नाई जय सतगुरु की संगत करते जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई संतो यो सौदा फिर नाई यो सौदा फिर नाई संतो यो सौदा फिर नाई अमरपुरी पर आसन होते अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई संतो यो सौदा फिर यो सौदा फिर नाई संतो यो सौदा फिर नरत मन पवन पियाना सोरत नरत मन पवन शब्द शब्द समाये संतो यो सौदा फिरना यो सौदा फिरना संतो यो सौदा फिरना गरीब दास गलतान महल में गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई संतो यो सौदा ओ दास गलतान महल में गरीबदा दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई संतो यो सौदा फिर यो सौदा फिर नाई संतो यो सौदा फिर नाई यो डमडमा फेर कौन रहे यो मनुष्य शरीर नहीं रहे और मनो मनो शरीर नहीं रहेगा तो यू खाना भी नहीं रहेगा महाराज कहते हैं कि ये लोहे के साताव जात है काया देश राही जिस प्रकार लोहे ने गर्म करके और उसी समय उस पर चोट मार दे तो उसका कोई साधन बना सकते हो कोई औजार बना सकते हो और थोड़ा सा ठंडा हो जाते तो कितना है कूट लो कुछ नहीं बनेगा इसी प्रकार एक बार ये मनुष्य शरीर आपके हाथ तक छूट गया ये लो के साथ आ जा बीरा रोज एक बाण सा उधरता है एक दिन रोज पाछे न डांक मार रहे सागिन चालाम अपने मौत का न चिंता नहीं कति चिंता नहीं तो महाराज कहे के लोहे के साताव जात है काया देश राही फिर कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे जितने भी प्राणी यहां आए हुए सब सौदा करना रहे पर करता कोई नहीं उस असली उद्देश्य को भूल कर नकली पर गांठ बांध बैठे हम तो गिंडली मार के हम बच्चे और जायदाद तो ऊपर फालतू नहीं समझते फिर फुर्सत रिश्तेदारा ही प्रेम हो जाएगा बस और एक सेकंड से शरीर नहीं रहेगा फिर कहां तो रिश्तेदार कहां बच्चे कहां जदाद ये सोपन नहीं है पर हम इस सोपन को सोपन नहीं मान रहे हम इसको सत्य मान रहे हैं पर इस सत्य को भी सत बनाने के लिए एक नाम की जरूरत और पड़ेगी ये तो जो है सो है जितने दिन का वो भी मालूम है कितना किसका है उस परमात्मा ने सब जानकारी है तो यहां कहा कि हमने सौदा करना चाहिए था सौदा करते नहीं सौदा ये करेंगे जो आज सत्संग में आए इनका स्वरूप हो चुका है कहते हैं दोगने तेगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही परमात्मा की प्यारी पाठ करवावे तीन तीन चार चार पाठ दो दो तो कम से कम घर में होने लागे ये पाठ बंदी छोड़ के और भाई कोई जो है ना सत्संग का निर्णय भी नहीं आंदा तो उन शुरू नहीं किया सौदा जो मनुष्य जन्म का था और इनके दोगुने तगने चौगने बनेंगे जो अब आज कमाई कर रहे हैं इस बात ने सब मानते हैं कि कर्म फल जीव पावा है और कर्म कौन सा अच्छा करा आप सारा दिन में भी कर्म फल से ही मिलेगा फल कर्म से ही मिलता है कर्म कौन सा अच्छा किया आपने सारे दिन में तो इस प्रकार महाराज कहें कि दोगुने चौगने करे चौगने तगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही मूल कहे वो पूंजी मूल धन जो परमात्मा ने हमें शरीर रूपी सांस रूपी दी थी यह भी खो चले और इसको तो कमाई करनी थी और यह भी दारू दप्पे में खो दी यानी विषय वासना यो दम टूटे और पिंडा फूटे यो शरीर गया यो तेरे प्राण गए और लेखा दरगाह माही उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाई उड़न को लाट सब पड़ा चाल वहां तो उनका चलेगा जो नाम लेते हैं और सत्संग करवाते करते हैं भजन करते हैं संतान की सेवा करते उनकी ठाट वहां उनकी चलेगी जो यहां से करोड़पति हो चाहे अरबपति हो पृथ्वीपति हो वहां कोई नहीं चला उड़ा जानते मोगरा के लेंगे ये लिख रहा क्या प्रमाणित है कहते हैं चकुए पति पृथ्वीपति चकुए गए चकुए कहे चक्रवर्ती राजा और जिनके चक्र चलन रावण श्री के कौन गणेश जाली अनंत अर्घ देगी जो निम जाते हैं तो फिर आगे बता कि उस दिन की मुहे डरनी लागे लज्जा रैक ना ही करते करते भी भय और ना करते उनके ला के होगा ये सतगुरु महाराज हमें बतावा भाई जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामण मरण मिटाही तीन लोग की व्यवस्था में जन्म मरण खत्म नहीं होता ये शास्त्र प्रमाणित है और कबीर साहब कहते हैं कि हमारी शरण में जाने से तुम्हें सतलोक प्राप्ति होगी वहां जाए पास जन्म मरण नहीं होगा आपका वहां पर और तेज पुंज का शरीर मिलेगा बहुत सुंदर शरीर होगा और व्यवस्था न्यारी से पर हम उसको नहीं दसते क्यों हम इसी में रचे हुए हम इसको सतमान रेणु बेरा में छोड़ कर जाएंगे फिर भी हम इसको सतमान मान रहे या भूल कसूती भूल हमारे इस काल में डाल रखी तो फिर बताया कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक थराही सलाम सुरा कहे मसलित उर्दू का शब्द और बांध पिंजरी आगे धर लिया फिर तना मरगट ने ले जाए ये मर गया भाई ठाओ ठाओ माटी से भाई कुछ नहीं से रोनी रो रहे से नवाणिए नवा रहे से लाकड़ी ढोणिए लाकड़ी ढो रहे से और बांध के छाते मैं और जाद रहेंगे उसके ऊपर अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही अब ने सोचे गति करे इसकी तय